परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का नवा मंत्र आज हमारे समक्ष है ये मंत्र यजुर्वेद के 19वें अध्याय का नवा मंत्र है परमात्मा से प्रार्थना की गई है परमात्मा को उस उस गुण वाला देखते हुए स्वीकार करते हुए उससे प्रार्थना की गई है परमात्मा को संबोधित किया है परमात्मा तेजो असी आप तेज स्वरूप हैं मई थे ही मेरे में भी तेज को धारण करो मुझे भी तेज प्रदान करो तेज को महर्षि ने खोला हे स्वप्रकाश परमात्मा तेज स्वरूप है अर्थात स्वप्रकाशक है स्वप्रकाश है स्वयं अपने आप में वो प्रकाश स्वरूप है अनंत तेज उसका तेज बहुत अधिक है और वो तेज किस प्रकार का है उसको और खोल रहे हैं आप अविद्यांधकार से रहित हो परमात्मा स्वप्रकाश है यानी ज्ञान स्वरूप है और इसका दूसरा तात्पर्य निश्चित निकल के आता है जो महर्षि ने लिखा कि आप अविद्या अंधकार से रहित हो किंच सत्य विज्ञान तेज स्वरूप हो जो आपका तेज है वो सत्य विज्ञान रूप है ठीक ठीक श्रेष्ठ ज्ञान आपके पास है ये आपका तेज है तो ये सत्य विज्ञान रूप तेज मुझे भी प्रदान करो आप कृपा दृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो और ये तेज क्यों धारण करना चाहते हैं तो उससे महर्षि ने लिखा जिससे मैं निस्तेज दीन और भीरू कभी ना हो परमात्मा से तेज मांगा है तो तेज की रहित अवस्था में हम निस्तेज रहते हैं दो और शब्द दिए दीन और भीरू जब हमारे अंदर सत्य ज्ञान नहीं होता है तो मन में हीनता का दीनता का भाव होता है मैं कुछ भी नहीं जानता मेरा कोई विशेष अस्तित्व नहीं है मेरा कोई महत्व नहीं है ये दीनता का भाव मन में रहता है अन्य भी कारणों से दीनता का भाव रह सकता है बल की न्यूनता से धन की न्यूनता से पद प्रतिष्ठा की न्यूनता से लेकिन दीनता का मुख्य कारण ज्ञान की न्यूनता है एक अकेला ज्ञान आ गया तो अन्य दीनताएं अन्य विषयों की दीनता व्यक्ति की एकदम कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है अन्य विषयों में दीनता समाप्त होती है शारीरिक बल इंद्रियां, बुद्धि धन आदि होते हैं तो उन उन अंशों में ही दीनता दूर होती है लेकिन ज्ञान यदि सत्य ज्ञान है विज्ञान है तो अन्य विषयों में न्यूनता होते हुए भी वो व्यक्ति अपने को दीन अनुभव नहीं करता है वो तेजस्वी हो जाता है तो ये सबसे प्रमुख प्रार्थना और भीरु यानी डरपोक भयभीत होना डर होना किसी स्थिति से बच के भागना ये भीरु होने के लक्षण है भीरुता का मुख्य कारण ज्ञान की न्यूनता है बल न्यून होते हुए भी यदि ज्ञान ठीक है तो व्यक्ति भीरू नहीं होता है तो परमात्मा से ये प्रार्थना की गई कि आप तेज स्वरूप हो सत्य विज्ञान स्वरूप हो मुझे भी वो सत्य विज्ञान प्राप्त कराइए जिससे कि मैं निस्तेज न रहूं मैं दीन न रहूं और मैं भीरू न रहूं आर्यों में ये गुण नहीं होने चाहिए वो निस्तेज हो भीरू हो दीन हो ये आर्य में नहीं होना चाहिए आर्य तेजस्वी दीनता रहित और निडर होना चाहिए परोक्ष रूप से हमारे लिए ये आदेश भी है कि हमें ऐसा बनना है ऐसा ही रहना है हमें दूसरी प्रार्थना की हे वीरियम असी वीरियम असी हे भगवान आप बलवान है अनंत बलवान है मुझे भी बल प्रदान कीजिए बल भी हमें प्राप्त करना है आर्यों को अनेक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति शारीरिक आदि बलों की उपेक्षा कर देते हैं उस तरफ ध्यान नहीं देते या उसे पाने योग्य नहीं समझते सामान्य रूप से जीवन चल जाता है उतना ही वो बल चाहते हैं लेकिन वेद का आदेश है बल भी हमारे अंदर रहना चाहिए उसकी कामना आर्य को रखनी ही चाहिए लोक के अंदर बल को कुछ इस तरह से देख लिया जाता है गलत ढंग से कि जो धार्मिक है सज्जन है उन्हें इस बल की क्या आवश्यकता है बल की कामना तो दुष्ट लोग करते हैं क्योंकि उन्हें जीने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है दूसरों को कुछ दूसरों को दबाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है छीना जबकी करनी होती है बचना होता है लोगों से डराना धमकाना होता है इसलिए बल की आवश्यकता है जो सज्जन है उन्हें इस तरह के बल की क्या आवश्यकता है प्रवृत्ति प्राय रहती है धार्मिकों में आध्यात्मिक व्यक्तियों में क्योंकि अध्यात्म और धर्म का मतलब वो यही समझते हैं कि बस हम ठीक रहें हम ठीक स्थिति में रहें इतना पर्याप्त है जबकि ये आर्य का लक्षण नहीं है दूसरों को ठीक करना ये भी आर्य के साथ में महत्वपूर्ण अंश जुड़ा हुआ है और इसलिए आर्य को भी दूसरों को डराना होता है धमकाना होता है दूसरों से कार्य लेना होता है कोई दुष्ट हो तो उनसे छीनना भी पड़ता है अपनी रक्षा तो है ही लेकिन दूसरों से भी करना होता है तो आर्य ये सब काम तब कर सकता है जब वो बल से युक्त हो परमात्मा ये सब कार्य करता है दुष्टों से छीनता है अपने समस्त कार्यों को बिना किसी भय के बिना किसी बाधा के निर्बाध पूरा करता है ऐसा आर्यों को भी होना चाहिए इसलिए प्रार्थना वीरियमसी वीरियमयी थे ही आगे कहा बलम असी बलमयी थे ही व्याख्या में अलग से बलम असी की व्याख्या नहीं की गई दोनों में हमें भिन्नता तो करनी ही होगी वीर्य में और बल के अंदर दोनों बल स्वरूप है लेकिन दोनों की भिन्नता देखनी होगी दोनों हमारे अंदर होंगे वीर्य को वैसे पराक्रम के रूप में भी लिया जाता है लेकिन पराक्रम को यहां पर ओज के संदर्भ में लिया गया है तो कोई दूसरा अर्थ उसमें और विशिष्ट देखना होगा तो परमात्मा से बलम असी बलमयी थे ही आगे का ओजो असी ओजो मई थे ही वीर मैंने उत्साह ले सकते हैं ये ठीक है कि परमात्मा हमेशा उत्साह युक्त रहता है निराश नहीं होता है हमें आर्यों को भी सदा उत्साह युक्त रहना है वीर्य मैंने उत्साह ये अच्छा अर्थ है और बल हम बल के अंदर ले ही लेंगे ओजोसी ओजोमयी देही में महर्षि ने लिखा ओज अर्थात आप पराक्रम स्वरूप हो पराक्रम का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होना आगे बढ़ना अग्रणी होना तो परमात्मा को जो करना होता है वो आगे बढ़ करके कर देता है वो दूसरों की प्रतीक्षा नहीं करता कि दूसरे करेंगे तो मैं करूंगा दूसरे नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं दूसरे नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये जो भाव होता है ये पराक्रम की न्यूनता वाला भाव है परमात्मा पराक्रम से युक्त है आर्यों को भी ये अपेक्षा है कि वे पराक्रम से युक्त हों बल होते हुए भी कई व्यक्ति पराक्रम से रहित होते हैं वो अपना पैर आगे नहीं बढ़ाते कार्यों में अग्रणी नहीं होते हैं नेतृत्व नहीं करते वो दूसरों की प्रतीक्षा करते हैं दूसरे यदि कोई मिल जाते हैं अच्छे करने वाले तो साथ में लग लेते हैं दूसरा कोई नहीं है तो ठीक है मैं अकेला क्यों करूं जब और किसी को नहीं पड़ी है तो मैं क्यों करूं इत्यादि भाव जो आता है ये पराक्रम की न्यूनता का भाव है पराक्रमी व्यक्ति अकेला होगा तो भी अच्छा कार्य करने लग जाएगा कम साधन होंगे तो भी प्रारंभ कर देगा प्रतीक्षा अधिक नहीं करता है वो ये सामर्थ्य ये भाव हमारे अंदर आर्यों के अंदर रहे नहीं तो जितना हमारा सामर्थ्य है उसका भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं दूसरों की प्रतीक्षा में ही रह जाते हैं परिस्थिति बनेगी तो करूंगा ऐसा ऐसा होगा तो करूंगा ये भाव फिर आर्य को पीछे रख देता है तो आर्यों को आगे बढ़ने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए पराक्रमशील रहना चाहिए ये कामना है परमात्मा पराक्रम स्वरूप है तो मुझ में भी उस पराक्रम को सदैव धारण करो पराक्रम की बहुत सी बातें हमारे साथ में कभी होती हैं कभी हम पराक्रमहीन होते हैं कभी पराक्रम से युक्त होते हैं तो सदैव हमारे अंदर पराक्रम रहे हम सदैव नया कुछ करते रहें जो किया है उसको आगे बढ़ाते रहें सक्रिय रहें ये पराक्रम हमारे अंदर होना चाहिए आगे कहा मन्यु रसी मन्युमयी थे ही हे परमात्मा आप मन्यु स्वरूप हो अर्थात आप दुष्टों पर क्रोध करने वाले हो मुझे भी ऐसा बनाइए मुझमें भी दुष्टों पर क्रोध धारण कराओ तो आर्य या वैदिक आध्यात्मिक व्यक्ति में दुष्टों के प्रति क्रोध रहना चाहिए आर्य में दुष्टों के प्रति क्रोध रहना चाहिए ये ईश्वर का आदेश है जो आजकल धर्म का या अध्यात्म का स्वरूप संसार में प्रचलन में आ चुका है लोग उसको अधिक प्रसारित करने लगे हैं उसको स्वीकार करने लगे हैं वो वैदिक दृष्टि से गलत दृष्टिकोण है दुष्टों के प्रति क्रोध का भाव होना चाहिए ये मन्यु है अध्यात्म में नहीं तो व्यक्ति सोचने लगता है मुझे तो किसी पर भी क्रोध नहीं करना है क्रोध आया तो वो दोष है लेकिन वैदिक दृष्टि से क्रोध को भी देखा जाता है कि क्रोध क्यों आया क्रोध किस पे आया क्रोध उचित था या अनुचित था अनुचित है अविद्यापूर्ण है अधिक मात्रा में है असंयम के कारण से है तो ये त्याज्य है ये मुक्ति में बाधक है लेकिन उचित स्थान पर उचित मात्रा में अच्छे कार्य के लिए नियंत्रण पूर्वक क्रोध आता है तो वो दोष युक्त नहीं कहलाता वो उचित कहलाता है इस गुण को भी हमें धारण करना ही होता है करना ही चाहिए नहीं तो दुष्ट व्यक्ति सज्जनों के इस गुण के कारण कि वो क्रोध नहीं करते हैं प्रतिक्रिया नहीं करते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं और संसार में अधर्म को अधिक फैलाते हैं धार्मिकों को और कष्ट देते हैं धार्मिकों के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं दुष्टों को पता होना चाहिए कि सज्जन भी क्रोध करता है कर सकता है प्रतिक्रिया करता है प्रतिक्रिया कर सकता है उससे वो नियंत्रित रहेंगे दुष्ट व्यक्ति दूसरे दुष्ट व्यक्ति से नियंत्रित रहता है बच के रहता है वो सोचता है कि ये प्रतिक्रिया करेगा मैं कुछ करूंगा तो ये बदला लेगा उनसे कुछ बच के रहता है सामान्यतया नहीं भिड़ता बहुत ही प्रतिक्रिया हो बहुत ही विद्वेश हो तो प्रतिक्रिया करेगा नहीं तो बच के रहता है जो सज्जन धार्मिक व्यक्ति तथा कथित सज्जन धार्मिक व्यक्ति जो क्रोध से रहित हैं मन्यु से रहित हैं चुपचाप सहन कर लेते हैं उनके प्रति अधार्मिकों के अधर्म अन्याय अत्याचार अधिक होते हैं बहुत से अपराध संसार में होते हैं लेकिन व्यक्ति इस डर से पुलिस को सूचना नहीं देगा सरकार को सूचना नहीं देता है चुप बैठ जाता है ठीक है क्या लेना देना और झगड़ा बढ़ जाएगा इस तरह से डरता है वो ये आर्य का लक्षण नहीं है अगर कोई गलत कार्य हुआ है और उसकी सूचना लिखाई जा रही है पुलिस के अंदर आरक्षी बल में केंद्र में तो उसका मतलब है हम दुष्ट का प्रतिरोध कर रहे हैं दुष्ट के प्रति क्रोध है वहां पर मन्यु है उसको ठीक करने का विचार है और ये यदि हम नहीं करेंगे तो समाज नहीं सुधर सकता उनके हौसले बढ़ेंगे दुष्टों के हौसले बढ़ेंगे लेकिन अनेक व्यक्ति इसी में धार्मिकता और सज्जनता समझते हैं कि मुझे क्या लेना देना कोई बात नहीं चलेगा वहां और समस्याएं झेलनी पड़ेंगी वहां बार बार जाना पड़ेगा उससे नौकरी में बाधा होगी उसमें दुकान में बाधा होगी वो सुनते नहीं है दंड तो पता नहीं दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा यहां भी होगा तो वो वकील कर लेगा वो छूट जाएगा ऐसी दस तरह की बातें सोच करके वो निष्क्रिय हो जाता है आर्य ऐसा नहीं होना उसे क्रोध और मन्यु रखना है पुलिस वाले नहीं सुनते हैं वो उनका दोष बनेगा हमें तो जाकर के बताना है उस अन्याय अत्याचार को हमारा कर्तव्य पूरा होता है वो नहीं करते तो वो दोषी हैं लेकिन वो नहीं करते इसलिए हम भी ना जाएं ये तो हमारा भी दोष बन गया हम जाएंगे प्रयास करेंगे नौकरी छूटती है तो छूटेगी छुट्टी लेनी पड़ती है तो लेंगे आने जाने में समय खर्च होता है तो करेंगे ये धर्म की रक्षा के लिए ये जो कष्ट होता है ये तपस्या हो रही है हमारी धर्म की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए जितना हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र में अपने से संबंधित उतना तो करना ही चाहिए तो ये तपस्या हो जाती है हमारी इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और जो इस तरह से जो अन्याय हमारे साथ में होता है वो हमें कष्ट प्रदान करते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा से होती है तो हमारे लिए तो कोई हानि की बात ही नहीं है हमने वकील किया पैसा खर्च किया वो फिर भी बच गया बच गया तो जिन्होंने बचाया उनको दंड मिलेगा उसको भी दंड मिलेगा हमने जो ये पुरुषार्थ किया इसका फल हमें मिलेगा हम दोष से बचेंगे दोष के भागी नहीं होंगे हमारी अध्यात्म में प्रगति होगी और जो हमने अतिरिक्त कष्ट सहा है उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा से होगी तो हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी जो इससे बच जाते हैं वो ईश्वर विश्वासी नहीं होते ईश्वर पर विश्वास हो तो हानि की कोई बात ही नहीं मन में आएगी ईश्वर को हटा करके जब वो देखते हैं सांसारिक दृष्टि से केवल देखते हैं कि मेरा धन जाएगा समय जाएगा अपमान होगा मैं चर्चा का विषय बनूंगा और बातें हो जाएंगी तो उससे डरते हैं ये सांसारिक व्यक्ति संसार को ही जब देखता है तब ये इस तरह की बातें होती हैं आर्य में ये बातें नहीं आ सकती क्योंकि वो ईश्वर को देख रहा है ईश्वर के अनुरूप चल रहा है तो हे प्रभु आप मन्यु हैं मुझमें भी मन्यु को धारण कराइए मैं भी मन्यु बनूं मनु करने वाला बनू अंत में कहा सहो सी मई थे ही मनु होते हुए भी मुझमें सहनशीलता का गुण रहे आप भी सहन करते हैं मैं क्रोध स्वरूप बनू दुष्टों के प्रति क्रोध करूं उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं सहनशील नहीं हूं मैं शांत नहीं हूं मैं पूरा सहनशील और शांत रहना चाहता हूं जैसे आप हैं तो मुझ में भी आप सहन सामर्थ्य धारण करो ये जो जितनी बातें कही गई उनके लिए फिर अर्थात कह के जो महर्षि ने लिखा वो सब पर लागू होता है कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनके तेजादि गुण कभी मुझ में से दूर ना हो मुझ में है ये मुझसे हटे नहीं कभी मुझ में सदा विद्यमान रहे धारण रहे यदि वैसे पंक्ति का अर्थ देखें जैसे लिखा है हे अनंत सहन स्वरूप मुझ में भी आप सामर्थ्य सहन सामर्थ्य धारण करो अर्थात अब ये अर्थात वाक्य रचना इस, इस तरह की है कि ये सहन के साथ ही जुड़ने की प्रतीति लगेगी लेकिन ये सहन के साथ में नहीं जुड़ा है इसका पता हमें कैसे लगता है इनके तेज आदि गुण तेज आदि गुण लिया यानी तेजो सी तेजो मई दही जो प्रारंभ से किया गया वाक्य रचना में तेजादि से हमें पता लगता है कि आगे की ये जो बात कही जा रही है सब पे लागू होगी ये केवल सहन के लिए ही नहीं है और परमात्मा से ये प्रार्थना क्यों की जा रही है जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान कर सकूं भक्ति के स्थिर अनुष्ठान के लिए ये बातें कही गई हैं और भक्त लोग क्या समझते हैं मन्यु के लिए खासतौर से पराक्रम के लिए बल के लिए कि ये मैं प्राप्त करूंगा तो इनसे तो मेरी साधना बाधित हो जाएगी मेरी भक्ति बाधित हो जाएगी मैं अपनी भक्ति में कोई बाधा नहीं खड़ी करना चाहता हूं ऐसा कार्य करूंगा तो वो इन चीजों को दूर हटाता है उनमें पड़ता नहीं है वो सोचता है ये सब झंझट है इनमें पड़ गया तो मैं भक्ति साधना कहां से करूंगा संसार में जब कभी अन्याय अत्याचार होता है और व्यक्ति उसका प्रतिरोध करता है तो अन्य क्या कहने लगते हैं साधक व्यक्ति को कि आप अपनी साधना आदि को मत बिगाड़ो इन कामों में मत पड़ो ये किस दृष्टि को बताता है वो ये सोचते हैं कि ये जो कुछ विपरीत हो रहा है और उसका विरोध करेंगे तो दूसरा और विरोध करेगा ये तो दुष्ट व्यक्ति है इसने उसके साथ भी ऐसा कर दिया इसके साथ भी ऐसा कर दिया आपके साथ भी ऐसा करेगा क्यों आप इन सब में कर रहे हो आप अपना साधना स्वाध्याय करते रहिए आप अपना धर्म का प्रचार करते रहिए आप अपना पठन पाठन करते रहिए आप शांति से अपने घर परिवार को पालन करते रहिए क्यों इन झंझटों में पड़ते हैं ये जो वाक्य कथन होता है लोग बहुत कहने लग जाते हैं और साधक और धार्मिक व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि हो मैं ऐसा करूंगा तो देखो ये भी मेरे को समझेंगे कि ये धर्म से च्युत हो गया है अध्यात्म से इसका लेना देना नहीं रहा अब तो ये तो झगड़ों में पड़ गया है ये तो विरोध में आ गया है उसे डरने लगने लग जाता है लोग क्या कहेंगे ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है उसे अपनी धार्मिकता लोगों में धार्मिक कहलाना आध्यात्मिक कहलाना ये बहुत प्रिय होता है उससे च्युत होना वो नहीं चाहता धार्मिक बनना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है आध्यात्मिक बनना चाहिए ये अच्छी बात है लेकिन यहां ये अज्ञान काम करता है कि लोग भी मुझे धार्मिक समझें लोग भी मुझे आध्यात्मिक समझें ये इच्छा भी अनुचित नहीं है उचित है लेकिन इस इच्छा के बने रहने के लिए इसे ये इच्छा पूरी होती रहे लोग मुझे धार्मिक और आध्यात्मिक समझते रहे इस भावना से युक्त होके जब वो मनु इत्यादि बातों को छोड़ देता है सत्य का विरोध छोड़ देता है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा ना तो वो ईश्वर को स्वीकार कर रहा है और ना उसने धर्म के और अध्यात्म के सही स्वरूप को समझा है और न वो लोकेशना से दूर है अभी वो अपने को धार्मिक कहलाने के लिए आध्यात्मिक कहलाने के लिए अपनी उस छवि को बनाए रखने के लिए इन नियमों को तोड़ने को तैयार है लेकिन छवि को तोड़ने को तैयार नहीं है कारण लोकेशना धार्मिक बने रहने की धार्मिक दिखने की जो इच्छा है ये भी लोकेशना का रूप है ये मुमुक्षु है ये साधक है इस तरह से मोक्ष के प्रति जो अविद्या का रूप ले लेता है ईश्वर प्राप्ति अध्यात्म ये इसमें अविद्या आ गई है ये चीजें भी अविद्या से ग्रस्त हो सकती हैं इस रूप में और अविद्या से ऐसा ग्रस्त व्यक्ति स्थिरता से अनुष्ठान नहीं कर सकता तात्कालिक उसे लगेगा कि मैं झंझट से बच गया या मैं कुछ कर रहा हूं वो स्थिरता से अनुष्ठान नहीं कर सकता ये महर्षि का भी वचन इसी बात को यही कह रहा है ये सब मुझ में क्यों चाहिए जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान कर सकूं अर्थात इनके बिना हम स्थिर अनुष्ठान नहीं कर सकते और जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति इस तरह के अन्याय अत्याचार के विरोध में न पड़ के शांति से एकांत में बस अपने काम में लगे रहते हैं बाहर से भले ही उनको शांति लगे थोड़ी देर के लिए बाद में अशांति उनको भी होगी दूसरी बाधाएं खड़ी होंगी और कुछ नहीं वो अंदर से ही ग्लानी में रहेगा स्वीकार नहीं होगा उसको और परोक्ष रूप से वो अपने को ये मान करके भी चलने लग जाएगा आगे चल के ये मान सकता है कि इस दुनिया में ये सब चीजें होती हैं करनी पड़ती हैं और सहन करनी यू ही चलना पड़ता है और ऐसा करते हुए वो अन्यायी अत्याचारी को समर्थन कर रहा होता है क्योंकि उनके हौसले इसीलिए बढ़ते हैं ये धार्मिक व्यक्ति है ये तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा ये तो सज्जन व्यक्ति है ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनके हौसले बढ़ते हैं यानी अधर्म को हम समर्थन कर देते हैं परोक्ष रूप से सोच ये रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं अध्यात्म के लिए कर रहे हैं लेकिन हम उसके विपरीत आचरण कर जाते हैं तो वेद का धर्म वेद का अध्यात्म ये सीख नहीं देता महर्षि का धर्म महर्षि का अध्यात्म ये प्रेरणा नहीं देता है इस तरह के अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया गया तो जिससे मैं आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान कर सकूं कोई आर्य ये कहे कि मेरे को भक्ति में इतनी बात नहीं है कोई सामान्य व्यक्ति कहे नहीं भक्ति भक्ति का मुझे लेना देना नहीं मैं तो शांति से रहना चाहता हूं बस तो उसके लिए भी महर्षि ने कहा और आपके अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूं संसार में सदा सुखी रहने के लिए भी ये सूत्र है मन्यु करना ही होगा बल बढ़ाना ही होगा पराक्रम लेना ही होगा नहीं तो इस संसार में सदा सुखी नहीं रह सकते संसार में भी सदा सुखी रहा जा सकता है वेद के अनुरूप चलते हुए मुक्ति जैसा सुख नहीं मिलेगा ये ठीक है लेकिन संसार के जो सुख हैं बाधाओं की अत्यंत न्यूनता है आध्यात्मिक दुख को छोड़ दीजिए वो बाकी जो सारे सुख हैं वो तो प्राप्त हो ही सकते हैं तो परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना आर्यों के द्वारा की गई आर्यों को इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए वेद का ये हमारे लिए आदेश है किन्हीं को कुछ पूछना हो तो हम्म इनका प्रश्न ये है कि यो, योग दर्शन में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये भाव लिखे गए तो अपुण्यात्माओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखा है जो अपुण्य करते रहते हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखा है तो वहां तो ये कहा गया और यहां दुष्टों के प्रति मनु भाव रखा गया मनु की बात कही गई क्रोध करने की बात कही तो ये परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहा है दोनों बातें हमें रखनी है कुछ दुष्टता कहीं ऐसी भी होती है जहां हमें उसकी उपेक्षा करनी होती है एक कार्य होता है क्षत्रिय का कि वो जहां भी दुष्टता देखता है आगे जाकर के उसको ठीक करता है वो उसका कार्य है उसको पता लगे नहीं वो ढूंढता है कि कहा अन्याय अत्याचार हो रहा है और जा जा करके उसको ठीक करता है ये क्षत्रिय का कार्य है साधक का कार्य वो इस तरह से नहीं करता है वो ज्ञान के स्तर पर तो ऐसा करेगा कि जहां अज्ञान अंधकार है पाखंड है उसको जान के और उसको दूर करने का प्रयास करें लेकिन दुष्टों के प्रति ये जो क्रोध भाव है उसको ढूंढना उनको ठीक करना लगना ये साधक व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति नहीं करेगा लेकिन जो उसके आसपास का क्षेत्र है जितना उसका भी कर्तव्य बनता है जैसे कि चारों वर्णों के कार्य हर व्यक्ति को करने होते हैं रक्षा का कार्य ब्राह्मण को भी अपना करना होता है इसकी सीमा होती है लेकिन क्षत्रिय का रक्षा कार्य अलग है उसका वो मुख्य कार्य है क्षत्रिय का रक्षा का कार्य है लेकिन ज्ञान विज्ञान देना और लेना इससे वो रहित नहीं होता है उतना उसको भी करना होता है यही बात वैश्य और शूद्र के लिए है ब्राह्मण को भी सेवा करनी होती है एक वो सीमित मात्रा में शूद्र की तरह सेवा नहीं करता लेकिन करनी होती है वैश्य क्षत्रिय को भी सेवा करनी होती है वो एक सीमित मात्रा के अंदर तो जो हमारा अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है जो कि सबके लिए कर्तव्य है वहां हमें दुष्टों के प्रति क्रोध भाव रहना ही चाहिए और जो विस्तृत क्षेत्र है उनसे हमें बच करके अपनी साधना करनी चाहिए दोनों को हमें संगति लगानी होगी दोनों हमारे साथ में दोनों हमारे लिए शब्द प्रमाण है तो हमें एक तो संगति लगानी होगी दूसरा उपेक्षा का एक अर्थ और किया जाता है एक उपेक्षा का मतलब है कि हम उस पर ध्यान न दें जैसे कि निरुक्त में भी उपेक्षा शब्द आया है वहां उपेक्षा शब्द इस अर्थ में नहीं है एक उपेक्षा मतलब निकटता से ईक्षण देखना निकटता से उसको देखना दुष्ट व्यक्ति को निकटता से देखना खूब अच्छी तरह देखना जागरूक तक से देखना एक ये अर्थ भी वहां पर लिया जा सकता है उपेक्षा शब्द का तो वो अगर हम रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं यहां जो ये मन्यु है ये सहोसी के साथ में है सहनशीलता अंदर है मन्यु और क्रोध का ये अर्थ नहीं है कि हम अंदर से विचलित हो रहे हैं अंदर से हमें सहनशीलता रखनी है अंदर से शांत रहते हुए भी बाहर क्रोध प्रकट करना है उसको दुष्टता से बचाने के लिए और ये कुछ ना कुछ अंश में हम सबको करना होता है योगी साधक को भी करना होता है नहीं तो वो जीवन में बाधा अनुभव करेगा कुछ व्यक्तियों कुछ परिस्थितियों में उसे मनु प्रकट करना पड़ता है तो इसे हम विरोध न मान करके उसका यदि हम परिसीमन कर दें क्षेत्र को हम न्यूनाधिक कर दें और उसका क्षेत्र कहां इसका क्षेत्र यहां ये मान करके हम कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा हम ये भी ले सकते हैं कि एक तो सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है सबके लिए और एक है विशेष व्यक्ति के लिए एक विशेष स्थिति के लिए तो बहुत गंभीर साधना में जाते हैं वो अपने बहुत सारे कर्तव्यों को छोड़ते हैं वो परिवार का पालन भी नहीं करते वैसे परिवार का पालन करना आवश्यक है लेकिन उनके लिए कुछ अलग बात हो जाती है वो अन्यों से मिलते जुलते नहीं है कम मिलते हैं ठीक है दूसरों का ध्यान उतना नहीं रखते जितना कि अन्य व्यक्ति रखते हैं वो स्थिति विशेष में है जहां की वो अत्यंत एकाग्रता में जाना है अन्य वृत्तियों से रोकना है वहां के लिए मान्य हो सकता है लेकिन एक जो सामान्य व्यवहार है जब वो उस विशेष स्थिति से बाहर आ गया है ऊपर चला गया है या नीचे आया है वहां तो उसे भी ये सामान्य व्यवहार करने होते हैं करने ही होंगे क्योंकि तो संसार में कहीं भी आपको बिल्कुल समान अनुकूलता सब कुछ नहीं मिल पाती है दुष्ट व्यक्ति होते ही हैं कुछ ना कुछ करेंगे कम या अधिक कुछ ना कुछ बाधाएं होंगी ही होती रहती हैं तो वहां ये सब हमको प्रयोग करना चाहिए उसको तो विरोध ना मान करके हमें संगति जिस तरह इस तरह या और अच्छे तरह से जो भी संगति लग सकती हो उसका हमें प्रयास करना चाहिए परमात्मा से प्रार्थना के भाव को इस मंत्र की प्रार्थना के भाव को मन में धारण करते हुए तीन बार ओम का उच्चारण Oh.